परम पिता परमात्मा का स्मरण पालन करने वाला रक्षा करने वाला प्राणाध्वनि Oh. उत्तर प्रेमी सज्जनों कार्य को अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए जीवन के लिए क्या क्या वस्तुएं और किस प्रकार से आवश्यक हैं और उसमें परमात्मा को किस प्रकार से जोड़ के चलना है ये बातें आज के वेद मंत्र में हमारे सामने है आज का वेद मंत्र यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का सैतीसवां मंत्र है और आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में इसे पैंतीसवें क्रम पर रखा गया है कुछ कामनाएं परमात्मा से की गई हैं और उससे पूर्व परमात्मा की स्तुति भी की गई है मंत्र के प्रारंभ में कहा भूर भुव स्व परमात्मा को भू भुव और स्व इन तीन शब्दों से कहा गया महर्षि दयानंद ने यहां पर भू का अर्थ सदा वर्तमान परमात्मा हे सर्व मंगल कारकेश्वर आप भू सदा वर्तमान हो भू धातु सत्ता अर्थ में होती है तो भवती इति भू जो होता है जो विद्यमान है जो सत है परमात्मा को कहा गया आप विद्यमान हो दूसरा शब्द है भुव इसके लिए महर्षि ने यह अर्थ खोला वायु आदि पदार्थों के रचने वाले हैं जो भू है स्वयं विद्यमान है वो अनेक कार्य पदार्थों को विद्यमान करता है जो विद्यमान था भू परमात्मा उसी के द्वारा ये बनाए गए हैं भुआ शब्द भू धातु का ष्ठी विभक्ति का एक वचन भू का जो भू है विद्यमान है सत्ता वाला है यानी परमात्मा भुव उस परमात्मा का कौन ये सारा संसार कार्य जगत और वो परमात्मा का क्यों है किस रूप में वो परमात्मा का है परमात्मा के साथ हम इसका संबंध क्यों जोड़ें क्योंकि वो इन सबको रचने वाला है इसलिए महर्षि ने भूह का अर्थ किया वायु आदि पदार्थों के रचने वाले आप हैं जो भू होता है विद्यमान होता है वो दूसरों को विद्यमान भी करता है जो स्वयं होता है वो दूसरों को हुआने वाला जब होता है दूसरों की भी सत्ता बनाने वाला होता है उनको कोई रूप प्रदान करने वाला होता है स्वयं गुणों से युक्त है और दूसरों को भी गुणों से युक्त जो करता है ऐसा वो परमात्मा आगे कहा स्व सुख स्वरूप हो परमात्मा अपने आप में सुखरूप ही है सदा आनंद से युक्त है लेकिन फिर भी मनुष्यों की शिक्षा के लिए और एक दृष्टि से मनुष्य कह रहा है आर्य कह रहा है परमात्मा को कि आप जो स्व सुख स्वरूप हो वो तब हो पाए हो जब आप विद्यमान होते हुए दूसरों को भी विद्यमान कर रहे थे दूसरों के लिए सृष्टि रच रहे थे ये आपका विशेष गुण परमात्मा सृष्टि की रचना न करे तो भी आनंद स्वरूप है लेकिन परमात्मा में इस तरह का कथन करते हुए वो स्वयं शिक्षा ले रहा है कि पहले मैं बनू भू विद्यमान हो गुणों से युक्त हो और फिर भूआ हो जाऊं भू का हो जाऊं भू की कुछ चीजें होनी चाहिए संसार में मैं जो विद्यमान हूं मेरे द्वारा निर्मित मेरे द्वारा व्यवस्थित मेरे द्वारा प्रसारित कुछ चीजें होनी चाहिए राज्य हो वस्तुएं हो शिक्षा हो संस्थान हो न्याय हो सेवा हो मेरे द्वारा कुछ न कुछ होना चाहिए मेरा कुछ न कुछ होना चाहिए भू का होना चाहिए और जब हम विद्यमान होते हुए विद्यमान वाले हो जाते हैं हमारे से संबंधित कुछ वस्तुएं कार्य होते हैं तो फिर हम स्व सुख स्वरूप होते हैं तब हमें सुख प्राप्त होता है तब हमें सुखी होने का पूर्ण अधिकार होता है केवल सत्ता मात्र से अन्य कोई चीज सुख स्वरूप नहीं हो सकती परमात्मा को छोड़ के आत्मा कभी भू होने मात्र से सुख स्वरूप नहीं हो सकता जब भू का कुछ बनेगा जब वो प्रयत्न करेगा दूसरों को भी बनाएगा तब वो स्व सुख स्वरूप होगा तो ऐसे परमात्मा को तीन शब्दों से कहा गया और वो अपने में धारण करने की दृष्टि से कि हे परमात्मा आप भू हो भूव हो रचने वाले हो और स्व सुख स्वरूप हो मैं भी अपना अभी निर्माण कर रहा हूं करूंगा और जिन्होंने निर्माण किया है जितना जितना उतने क्षेत्र में अब मैं कुछ रच रहा हूं दूसरों को भी उस स्थिति में अच्छी स्थिति में पहुंचा रहा हूं और ये करते हुए मैं सुख की कामना करता हूं मेरे को सुख मिले मैं सुख स्थिति में पहुंचू तो भू भू स्व परमात्मा से अब और आगे प्रार्थना की जा रही है सुप्रजा प्रजा भी श्याम मैं प्रजा भी प्रजाओं के द्वारा प्रजाओं से सुप्रजा अच्छी प्रजाओं वाला हो जाऊं प्रजाओं से सुप्रजाओं वाला हो जाऊं मेरे पास प्रजा है पुत्र पौत्र आदि हैं परिवार है प्रजा लोग बाग हैं जो हैं जैसे हैं प्रजा हैं उनसे ही मैं सुप्रजा वाला हो जाऊं मैं ऐसा प्रयास करूं कि मेरी प्रजा सुप्रजा हो जाए मेरे पुत्र पौत्र आदि अच्छे पुत्र पौत्र आदि हो जाए ऐसा मैं हो सकूं ये मुझ पर कृपा कीजिए मुझको सहयोग कीजिए आपने प्रजाएं तो दी हैं मुझे प्रजा मुझे प्राप्त है लेकिन इन प्रजाओं से मैं सुख प्रजा वाला हो जाऊं अच्छी प्रजा वाला हो जाऊं इसी तरह आगे कहा सुवीरो वीर ही श्याम वीरों के द्वारा मैं सुवीरों वाला हो जाऊं अच्छे वीरों वाला हो जाऊं मुझे वीर प्राप्त हैं आपकी कृपा से लेकिन मेरे ये वीर सुवीर हो जाएं, अच्छे वीर हो जाएं, धर्म पे चलने वाले हों और मुझे कोई कहे तो ये अच्छे वीरों वाला है पराक्रमी तो बहुत लोग हो सकते हैं बलशाली बहुत लोग हो सकते हैं लेकिन ऐसे बलशाली और पराक्रमी व्यक्ति मेरे पास हो जो कि धर्म पे चलते हो वीर ही सुवीरो श्याम सुवीर हो जाऊं आगे कहा सुपोष पोषई जो पुष्टिकारक पदार्थ हैं विविध वस्तुएं खाद्य पदार्थ रत्न आदि विद्या ये सब पोषण देने वाले हैं हमारे को बढ़ाने वाले हैं इन बढ़ाने वालों से जो आपने मुझे प्रदान किए हैं इन्हीं से मैं सुपोष ही सुपोष सुपोष श्याम मैं अच्छे पोषक पदार्थों वाला हो जाऊं यहां परमात्मा से जो कामना की जा रही है वो सीधे सीधे प्रजाओं की नहीं की जा रही है प्रजा वीर और पुष्टिकारक चीजें ये परमात्मा ने दे रखी है ये मान के चल रहा है आ रही है और उस स्थिति में अब एक प्रार्थना कर रहा है कि ये है मेरे पास में आपने प्रदान की हैं लेकिन अब मेरा पुरुषार्थ मेरा प्रयत्न इस ओर हो कि ये सब अच्छे हो जाए इनका मैं परिष्कार कर सकू इनको अच्छी स्थिति में पहुंचा सकू इसमें भी आपकी सहायता प्रार्थना मुझे चाहिए मात्र वीरों को प्राप्त करके मैं प्रसन्न हो जाऊं संतुष्ट हो जाऊं तृप्त हो जाऊं प्रजाओं को प्राप्त करने मात्र से मैं संतुष्ट हो जाऊं और विभिन्न पोषक पदार्थों को प्राप्त करके मैं संतुष्ट हो जाऊं इतना पर्याप्त नहीं है मेरी बहुत सी संतानें हैं पुत्र पौत्र आदि हैं ये कोई मेरे लिए संतोष या प्रसन्नता की बात नहीं है मुझे संतानें प्राप्त हो गई हैं वीर प्राप्त हो गए हैं पोषक पदार्थ प्राप्त हो गए हैं इतने मात्र से आर्य को संतुष्ट नहीं होना है ये कोई संतोष की बात नहीं है ये सब अच्छे बन जाए जिस दिन मेरी संतान सुसंतान बन जाएगी मेरी प्रजा सुप्रजा बन जाएगी वो मेरे लिए संतोष का दिन होगा क्योंकि मैंने उसके लिए प्रयत्न किया है और आपकी कृपा से किया है मैं उस दिन प्रसन्न होऊंगा जिस दिन मेरे वीर सुवीर हो जाएंगे विभिन्न व्यायाम आदि करके अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करके बहुत बड़े बड़े अच्छे वीर बन जाते हैं सेनाएं बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती है लेकिन वही सेनाएं जब अन्याय अत्याचार करती है जब शोषण करती हैं जब पीड़ा देती हैं तो वो वीर वीर नहीं कहलाते और इतने मात्र से यदि कोई देश अपने को संतुष्ट समझे तो वो वीर तो उनकी निंदा का कारण बन जाते हैं बन सकते हैं पतन का कारण बन सकते हैं संतानें हैं और उनके बाह्य रंग रूप को देख करके और बाह्य उन्नति को देख करके हम प्रसन्न हों कि मेरे बच्चे ऐसे ऐसे हैं वो संतोष की बात नहीं है वो बच्चे अपयश का कारण भी बन सकते हैं बनते रहते हैं माता पिता को संतुष्टि तब हो आर्य को संतुष्टि तब हो जब उसकी संतान उसकी प्रजा प्रजा हो जाए कोई राजा इतने मात्र से संतोष नहीं कर सकता कि मेरे एक लाख एक करोड़ एक अरब प्रजा है एक खरब मेरी प्रजा है अरब प्रजा है इससे कोई संतोष की बात नहीं है संख्या मात्र संतोष का कारण नहीं है उस संख्या में गुणवत्ता आ जाए वो श्रेष्ठ बन जाए मेरे कितने शिष्य हैं वो कोई संख्या में प्रसन्नता की बात नहीं है हमारी संस्था से जुड़े हुए कितने व्यक्ति हैं अधिक हैं कम हैं वो कोई प्रसन्नता की विशेष बात नहीं है वो अच्छे बन जाएं, जितने हो वो अच्छे बन जाएं, ये कामना तो हे परमात्मा सुप्रजा प्रजा भी श्याम सुबीरो बीरई सुपोष पोषई गुणवत्ता को मैं बढ़ा सकूं ऐसी कृपा करें फिर कहा नर्य प्रजा में पाही नर कहते हैं मनुष्य को और नर्य का मतलब महर्षि ने भी किया जो नर के लिए मनुष्यों के लिए हितकर हो उसे नर्य कहते हैं और ये परमात्मा के लिए संबोधन है परमात्मा कैसा है नरों के लिए हितकर है प्रजा में पाही मेरी प्रजाओं की आप रक्षा करें मैं अपनी प्रजाओं को सुप्रजा करूंगा आपकी कृपा से आप मेरी प्रजाओं की रक्षा कीजिए मैं प्रयत्न करूंगा और परमात्मा नर नर्य है नरों के लिए हितकर है परमात्मा ने ये जो सारी सृष्टि रची है ये मनुष्यों के हित को ध्यान में रख के रची है सर्व प्रमुख मनुष्य को बनाया है और हर आत्मा मनुष्य बन सकता है इस सृष्टि को मनुष्यों के लिए बनाया इस कथन में परमात्मा पर कोई दोष देखने लगे कि परमात्मा ने फिर क्या पशुओं को उनके हित के लिए नहीं बनाया है नहीं मनुष्य शरीर में जो आत्मा आई है इस योग्य बनी है ये सृष्टि उसके लिए बनी है और मनुष्य शरीर में हर आत्मा आ सकती है पशुओं में जो आत्मा है वो भी मनुष्य में आएगी तब उसके लिए भी ये सृष्टि इसी प्रकार होगी इसलिए न्याय है और परमात्मा की विचित्रता ऐसी कुशलता ऐसी कि ये सब मनुष्यों के लिए हितकर होते हुए भी ये उन प्राणियों और पशुओं जीव जंतुओं वृक्षों के लिए भी उतनी ही हितकर है उनके लिए हितकर होते हुए ये मनुष्यों के लिए हितकर है परमात्मा की रक्षा ऐसी है कि मनुष्यों के लिए हितकर करते हुए उसने अन्य आत्माओं के लिए अहितकर नहीं किया है इसको उनका अहित हो जाए और फिर मनुष्यों का हित हो ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है सारी व्यवस्था ऐसी है कि उनका हित होते हुए मनुष्यों का हित हो जाता है ऐसा वो परमात्मा ऐसा वो कुशल कारीगर वो प्रजाओं का पति प्रजाओं का पालक इस मंत्र का देवता प्रजापति है जो प्रजाओं की पालना करता है उसकी प्रजा केवल मनुष्य नहीं है उसकी प्रजा अन्य सब भी है ऐसा वो प्रजापति और ऐसा होते हुए भी वो नर्य है नरों के लिए हितकारक है मनुष्य सामान्यतया इस बात को सोच लेता है किसी हिंसक पशु को देख करके विभिन्न विषयों को देख करके जहर को देख करके कि ये नाशक चीजें क्यों बनी है इस संसार में कीड़े मकोड़े मच्छर जिनसे हमें पीड़ा बाधा होती है हम कहीं सोचते हैं कि ये हानिकारक चीजें परमात्मा न बनाता तो कितना अच्छा रहता लेकिन परमात्मा यह है नरों के लिए हितकारक चीजें करता है और वो प्रजापति भी है उसने सारी रचना इस प्रकार से की है कि वो किसी न किसी तरह हमारे लिए हितकारक है किस तरीके से हितकारक है ये अलग बात है हर चीज समान तरीके से हितकारक नहीं होती तो परमात्मा ने इनको हितकारक बनाया वो प्रजापति है तो हे नरिय हमारी प्रजाओं की आप पालना करें आगे कहा संशय पशुन में पाही हे प्रशंसा के योग्य मेरे पशुओं की रक्षा करो पशु भी इस जीवन के लिए आवश्यक है और परमात्मा को यहां प्रशंसनीय कहा स्तुत्य कहा स्तुति के योग्य स्तुति हम श्रेष्ठ की करते हैं तो परमात्मा आप स्तुति के योग्य हो आप मेरे पशुओं की भी रक्षा कीजिए और इन पशुओं को मैं उत्तम उत्तम बनाऊंगा और अच्छा बनाऊंगा आगे कहा अथर्य पितुम में पाही अथर्य शब्द को महर्षि ने खोला हे सर्वव्यापक परमात्मा अथर्य शब्द अथर्व से भी बना इसमें व को य व्यत्यय से करके अथर्य बना अथर्व थर्व चल कर्म में होती है गति कर्म में तो जो चलायमान नहीं होता दूसरा कोई उसको चला नहीं सकता वो स्वयं इधर से उधर चल नहीं सकता ऐसा वो परमात्मा तो कैसा होगा वो सर्वव्यापक ही होगा जो एकदेशी है वो स्वयं गति कर सकता है या दूसरा उसको गति दे सकता है लेकिन जो सर्वव्यापक है उसको कोई इधर से उधर कर ही नहीं सकता वो पहले से ही सब जगह व्यापक है देशांतर गमन हो ही नहीं सकता तो ऐसा अथर्य परमात्मा इसलिए महर्षि ने अर्थ लिखा हे व्यापक ईश्वर और अथर्य ये एक अलग से भी गति कर्मा निरुक्त के अंदर पढ़ी गई है और परमात्मा सबको गति देता है प्रदान करता है इसलिए अथर्यति और वैसे तो कंपन रहित है थर्व यानी कंपन चल अर्थ में लेकिन ये अथर ये अथर्व शब्द अंगुली के नाम में भी पढ़ा गया है अंगुलियां गतिशील होती हैं क्रियाशील होती हैं लेकिन फिर भी उसका नाम अथर्य से पढ़ा गया है और थर्व जो चरती कर्म है और चुराती गण में चर संशय अर्थ में है तो जो अथर्व है अथर्य है जो कि संशय से रहित है जो स्थिर है जो संशय से रहित है द्वंद्वों से रहित है ऐसा वो परमात्मा उसको कहा पितुम में पाही पितु शब्द निरुक्त में निघंटू में अन्न नामों में पढ़ा गया है मेरे अन्न की रक्षा कीजिए अन्न वो चीज जो हमें जीवन प्रदान करती है हमारा प्रीणन करती है हमारा जीवन चलाती है ऐसी उस वस्तु की आप रक्षा करें तो तीन चीजों की रक्षा का कहा प्रजा की पशु की और अन्न की प्रजा हमारे अधिक निकट है वो मनुष्य है उनसे हमारा सहयोग अधिक है हम उनको सहयोग करते हैं वो हमें सहयोग करते हैं और मुक्ति प्राप्ति में हमारे लिए सर्वाधिक सहयोगी हमारे अन्य मनुष्य मित्र बंधु बांधु प्रजा आदि होते हैं और उनकी रक्षा के लिए हमें पशुओं की आवश्यकता है वो दूसरी कोटि में आते हैं वो कुछ दूर हैं तो पशुओं की रक्षा करो और पशुओं की भी रक्षा कब होगी जब अन्न और खाद्य पदार्थ होंगे वृक्ष वनस्पतियां होंगी तो प्रजा पशु और अन्न इन तीन की रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना की प्रजाओं के लिए पशु चाहिए और पशुओं के लिए अन्न चाहिए परंपरा से तीनों बातें कही और परमात्मा को जो तीन विशेषण दिए गए संबोधन किया गया नर्य संशय और अथर्य ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि जब हम नर्य बनते हैं नरों के लिए हितकारी बनते हैं और नरों के लिए भी हितकारी ऐसे जैसे परमात्मा बनता है अन्यों को हानि न करते हुए ऐसी व्यवस्था करना कि मनुष्यों का हित हो तो जब हम भी नर ये बनते हैं नरों के लिए हितकर बनते हैं हमारा प्रत्येक कर्म ऐसा हो कि नरों के लिए हितकारी हो तो दूसरा है शन से हम स्तुति कारक हो जाते हैं स्तुत्य हो जाते हैं लोग हमारी स्तुति करते हैं हमारी प्रशंसा करने लग जाते हैं यदि हम नर्य नहीं है तो हम शंसे नहीं हो सकते यदि हम मनुष्यों के लिए हितकारी नहीं है अन्य मनुष्यों के लिए कल्याणकारक नहीं है तो हम प्रशंसा के योग्य स्तुति के योग्य नहीं बन सकते हमें मनुष्यों का हित करना है और हमें प्रशंसनीय भी बनना है किसी व्यक्ति का किसी क्षेत्र में बहुत यश हो उसने कुछ न कुछ समाज के लिए किया होगा इसलिए उसका यश है ये हो सकता है कि वो पूरी तरह से नरिय ना हो वो ऐसे कार्य भी कर देता हो जिससे मनुष्यों की हानि होती हो तो उसके यश में भी उतना उतना दोष मिलेगा हमें उसकी उतनी उतनी आलोचना भी मिलेगी उसका उतना उतना अपयश भी हमें प्रतीत होगा ठीक है ये इस विषय में बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन ये चीज उसकी गलत है उस यश के साथ में अपयश भी जुड़ा रहेगा और वो अपयश क्यों है क्योंकि वो नर्य नहीं रहा उस क्षेत्र में परमात्मा चूंकि पूर्णतया नर्य है नरों के लिए हितकारी है इसलिए वो पूर्णतः स्तुत्य है और इसी प्रकार जो मनुष्य जितना जितना अन्य मनुष्यों के लिए हितकारक होता है नर्य होता है वो उतना ही प्रशंसनीय होता जाता है यदि हमें पूर्ण प्रशंसनीय बनना है तो हमें पूर्ण नर्य बनना होगा मनुष्यों के लिए ही हितकारी हो ऐसा काम करना होगा और वो साथ में ये बात ध्यान रखनी है कि अन्यों की हानि ना हो इस प्रकार से मनुष्यों का हित करना होगा यदि केवल मनुष्य का हित ध्यान में रख के चले जैसा कि आधुनिक जगत में बहुत से क्षेत्रों में हो रहा है तो उससे अन्य प्राणियों का वातावरण का वृक्ष वनस्पतियों का हनन होता है वो उस तरह से प्रशंसनीय नहीं हो सकते उनकी भी प्रशंसा होती है कि मनुष्यों के लिए उन्होंने इन इन चीजों को बना दिया उपलब्ध करा दिया लेकिन एक दोष साथ में लगता है कि ये प्राणियों की इस प्रकार से हानि भी कर रहे हैं उतना उतना अपयश साथ में जुड़ेगा ही तो जो नर्य है वही संशय होता है स्तुति के योग्य होता है और जो ये दोनों हो जाता है वो अथर्य हो जाता है वो संदेह रहित हो जाता है वो चलायमान नहीं रहता वो स्थिर हो जाता है वो कंपायमान नहीं रहता कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा काम कर रहा हो और यदि उसकी विभिन्न प्रकार से आलोचनाएं हो जाएं उनके दोषों के कारण से उसको पता है कि हां दूसरे ने कहा ये दोष और मेरे में है भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता वो स्थिर नहीं हो सकता वो संशय रहित नहीं हो सकता आलोचना हुई है तो हमें सोचना होगा कि क्या मेरी कमी रह गई संशय पैदा होगा कितना भी अच्छा करें यदि आलोचना हो रही है तो संशय पैदा होगा लेकिन यदि हम इस ढंग से काम कर रहे हैं नर ऐसे हैं और ऐसा संशय बन चुके हैं ऐसी स्तुति हो रही है हमारी स्तुति कौन करेगा दूसरे मनुष्य ही तो करेंगे अन्य पशु पक्षी हमारी स्तुति कौन करेगा मनुष्य ही हमारी स्तुति करेंगे और हम उनके लिए पूर्ण हितकारक बने हुए हैं उनके प्रति अहिंसक बने हुए हैं तो वो स्तुति किए बिना रह नहीं सकता वो स्तुति करेगा और जहां हमने किसी गलत ढंग से किसी को कुछ कर दिया वो आलोचना करेगा अति दुष्ट लोगों की बात छोड़ दीजिए जिनकी की हानि होती है न्याय करने पर और वो प्रतिक्रिया करते हैं लेकिन एक सामान्य व्यवहार में आलोचना नहीं करेगा व्यक्ति क्योंकि सामने वाला नर ये दिखाई दे रहा है उसे और नरिय हम अपने पुरुषार्थ से अन्यों का परोपकार करते हुए जब ऐसी प्रशंसा को प्राप्त होते हैं तो हमें संतोष होता है संशय हटता है कि मैंने ठीक किया है कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए जब करता है और दूसरा व्यक्ति प्रत्युत्तर में कहता है आपने बहुत अच्छा किया धन्यवाद तो उस करने वाले को संशय हटता है संतोष आता है तृप्ति होती है कि मैंने ठीक किया क्योंकि तभी तो ये मेरे को बोल रहा है झूठी प्रशंसा करने वालों को हटा दीजिए वो पता भी लग जाता है कौन झूठी प्रशंसा कर रहा है और कौन सच्ची प्रशंसा कर रहा है यदि हमने किसी की सहायता की और उसने हृदय से हमें धन्यवाद दिया वहां कोई छल कपट की बात ही नहीं है वो झूठी प्रशंसा कर ही नहीं रहा है और ऐसा होने पर जब दूसरा हमारी प्रशंसा कर दे तो मन के अंदर संशय समाप्त होता है किस बात का संशय कि मैंने जो किया है वो उसके लिए ठीक किया या नहीं किया इसका संशय समाप्त हो जाता है संतोष होता है कंपन समाप्त होता है और दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ये काम अच्छा है मुझे करना चाहिए ये काम मुझे और करना चाहिए तो परमात्मा नर्य है इसलिए संशय है और इसलिए वो अथर्य है संशय रहित है और कंपायमान नहीं है यद्यपि परमात्मा में फिर ये बातें चूंकि वो तो सदा वैसा ही है उस तरह से नहीं घट सकती लेकिन मनुष्यों में ये घटेंगी परमात्मा से प्रेरणा लेकर के हम इस कसौटी पे अपने को कस सकते हैं कि मैं मनुष्यों के लिए परोपकार कर रहा हूं परोपकार की भावना है मेरा परोपकार ठीक है या नहीं है तो कसौटी है कि यदि प्रशंसा आपकी हो रही है उस कार्य के लिए अधिकतर के द्वारा सबके द्वारा तो हमें संतोष करना चाहिए और उस कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए हम अपने आप में संतुष्ट होते हैं लेकिन हम तब तक संशय रहित नहीं हो सकते जब तक कि हमारी पूरी तरह प्रशंसा ना हो और पूरी तरह प्रशंसा हमारी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम ये ना बन जाए नरों के लिए हितकारक ना बन जाए तो मंत्र में आर्यों के लिए जो संदेश है इस संदेश को पाकर के हम बनेंगे क्या इस मंत्र के दृष्टा होकर के हम क्या बनेंगे क्या स्थिति हो जाएगी तो इस मंत्र का ऋषि है वामदेव ऋषि वामदेवा देव मनुष्यों से श्रेष्ठ होता है अधिक पूजनीय होता है वो देने वाला होता है लेकिन देव भी कैसा बनेगा वो व्यक्ति जो इस मंत्र का साक्षात्कार करके वैसा आचरण करेगा वो वामदेव बनेगा वाम शब्द निघंटू में प्रशस्य नामों में पढ़ा गया है जो श्रेष्ठ बनता है अच्छा होता है देवों में भी जो देव होता है देवों में भी जो श्रेष्ठ बनता है वो वामदेव है जिन व्यक्ति ने जिस ऋषि ने सबसे पहले इसका साक्षात्कार किया ये उनका व्यक्तिगत नाम न होकर के वो उस तरह के बन गए वो देवों में भी प्रशस्त देव बन गए देवों में भी अतिश्रेष्ठ बन गए इस मंत्र में दिए गए सूत्रों का अनुसरण करने पर उन कसौटियों पे अपने को कसते हुए वो वामदेव बन गए कोई भी मनुष्य कोई भी आत्मा इस मंत्र का साक्षात्कार करके उसके अनुसार जीवन बना करके वामदेव बन जाएगा देवता है प्रजापति प्रजापति के कर्मों को हमने देखा परमा, परमात्मा की व्यवस्था को देखा समझा और उसके अनुसार ही अपने को भी हमने बना लिया तो हम वामदेव बन जाएंगे आर्यों की ये प्रार्थना आर्यों को ऐसी प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए इसलिए महर्षि ने इस मंत्र को यहां पर दिया भावना करेंगे और ओम का उच्चारण ओ